ये थे वो भविष्य को और उस व्यक्ति का दुकान में ही ऐसा होना और उसको व्यक्ति को वहां रहना जरूरी है नहीं तो सब बच्चे लोग गड़बड़ करेंगे उनके हित में वो ईश्वर भाव में न होते तो जा ही नहीं सकते नहीं जिनका हमसे परिचय है परिचय हो ना हो उसे क्या फर्क पड़ता ये तो सामने आगे उसको बोल दिया गया परिचय था उसका जानकारी ले ली उन्होंने नहीं जो, जो जरूरी नहीं है सब कुछ जान सकते हैं क्योंकि वही सर्वभवती सर्वज्ञ भवती पहचान वाला हो या ना तो इसलिए दृष्टांत है कि भाई पहचाने वाले का भविष्य उन्होंने कैसे जाना ऐसे एक और दृष्टांत है अब पूछे ना पूछे अब वो क्यों उसको क्या मारो कैसे पूछता हो गई सर्वज्ञ थोड़ी है और तो पूछ रहे क्यों सर्वज्ञ हो तो स्वयं चला गया हो पता है इससे तो एक और घटना हुई ऐसे ही एक आया आदमी अब उसके मन की बात जान लिए थे वो बिल्कुल अपरिचित पहली बार आया वो हम लोग भी कभी नहीं देखे थे विदेशी था कहा से सुन लिया बहुत बड़े मोटे तगड़े कोई महाराज विद्वान ज्ञानी तो आ जाओ तो वहां आ गया तो हम लोग बैठे रहे वहां पीछे बैठा रहा पाठ का बीच में ही रोक करके लेके कभी ऐसा नहीं करते थे छोटे महाराज जी ने कहा कि महादेव उनको बोलो बाहर चले जाए यहाँ से हमने उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके बोल भाई तुम बाहर जाओ किसका पाठ हो गया पाठ हो जाने के बाद हमने पूछा महाराज जी क्यों बहुत प्रदूषित अंत अंतकरण उसकी जो है वृत्ति तरंग यहाँ जो चल रहा है तुमको तो पता ही नहीं चला अब ऐसा तरंग था वो लगता है कुछ हत्या हत्या कराया हुआ है लगता है कि सच्चाई है समझ लो इसलिए उसको बाहर किया ऐसे लोगों का आश्रम में नहीं आना चाहिए फिर नीचे जाके उसको बोला ये बात नहीं मैंने उसको कहा कि भाई आश्रम में नहीं आना यदि संतों के पास आना है पहले तुम कुछ फास्टिंग करो मैंने मतलब व्रत रखो और जो है भगवान का नाम जो तेरे को पसंद आता है तेरा घूम रहे हो जो भी नाम तेरे को पसंद आया है तो सुने हो तो ही नाम को जपते जाओ फिर अगले साल आना वो समझ गया बहुत तेज था वो भी जो खूनी आदमी है तेज खोपड़ी तो था तो उसने वो फिर हमको अलग ले गया नीचे हमारे कमरे में भी थे ना उस समय अलग से ले गया फिर हमसे बोलने लगा कि जो है आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई तुम समझो क्यों बोल रहे हैं फिर वो एक बाहर बेंच जैसे बने ना मंदिर के सामने वहां बैठ के सारी कहानी सुनाया कि मैं इसलिए भाग आया हूँ मैंने पत्नी को साफ कर दिया भाई को साफ कर दिया सबको साफ कर दिया गुस्सा आ गया था कहानी लंबी चौड़ी थी लेकिन वो सबको कैसे जानते अनजान आदमी का कोई लेन देन नहीं फिर कान कान नहीं सच में जो महान संत है मैं आप जैसे करे वैसे खूब व्रत पूजा पाठ करूंगा और आप जैसे वो सब कुछ करके मैं अगले दिन फिर आऊंगा फिर एक साल बाद आए तो हम भी वहीं थे महाराज जी के पास हम ही ले गए उसको साथ में हमारे जी देखा महादेव थोड़ा ठीक हो गया है ये थोड़ा ठीक हुआ है अब उसको बोलना ये काम करने को कुछ और उन्होंने बता दिया तो क्या और दो साल काम और करना पड़ेगा उसके बाद आओगे तब तुमको मंत्र मंत्र मिलेगा तो अगले का अंतकरण को टटोलने की भी क्षण क्यों सर्वभावत है ना उसके साथ तारत हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से हो जाता है ये नहीं जान के करना नहीं पड़ेगा उन्हें ये श्रोत्र ब्रह्म स्वतः जीवन मुक्तों के लिए कोई संकल्प करना नहीं पड़ता प्रार कर्म में है वैसा होना तो उनके साथ वैसा हो जाएगा नहीं है तो फिर आदमी का हम यहाँ बीसों साल से थे ऋषिकेश पता ही नहीं चला कोई छोटे मारे जो महात्मा पता ही नहीं चला उन्हें तो यही होता है ना भगवान कृष्ण लीला कर गए और धरती पे कितने तो नाम ही नहीं सुने थे नहीं थे क्या उस समय में भी तो ये होता है संसार का नियम ही ऐसा है ईश्वर साक्षात आपके सामने भी है आपको समझ में नहीं आएगा ये ईश्वर आप तो कई कहानियां जानते नामदेव वगैरह की कहानी साथ भगवान खेल भी देते और वही गोरा कुंभार था उसके हाथ कटने के बाद सब भगवान नहलाते रहे सब सेवा करते रहे लेकिन वो पहचाना नहीं कि ईश्वरी आया हुआ इस रूप में कई ऐसे दृष्टांत आपको ये है कि होता है या तो उसके अपने प्रारक्रम समझो या ईश्वरीय संकल्प समझो जैसी मर्जी वो नहीं चाहते थे कि ये जान ले और उधर नामदेव को वो चाहते थे कि वो जान ले और उसको तो दिखा दिया कि मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ उठ रहा हूँ खाना पी रहा हूँ और उसको तो मालूम है मेरे साथ जो भगवान खेलते कूदते हैं और उधर उसको नहीं मालूम हो रहा है कि भगवान ही मेरी सेवा कर हाथ पर धो रहा है नहला रहा है सब कुछ कर रहा है या तो उनके अपने अपने प्रारंभ समझो यह ईश्वर का खुद का संकल्प था कि इसका भी उद्धार करना है उसका भी भला करनी दोनों के लिए यदि पहले तो जान लेगा फिर तो मुश्किल पैसा विचित्र भक्त है वो तो छूने भी नहीं देगा है वो तो छूने भी नहीं देगा ना इसलिए उसके सामने तो छिपा दिए अपने आप को जानने नहीं दिए कि मैं भगवान ही आया हूं तुम्हारी सेवा में और यह तो इतना अहंकारी था नामदेव अब इसको फर्क तो पड़ता है भगवान से पैर दबा ले भले उठपटांग खोपड़ी है तो इसलिए उन्होंने उसको जचा भी दिया मैं तेरे साथ भगवान मैं तुम्हारे साथ खेल कितना फर्क है लेकिन दोनों को कल्याण के अंत में दोनों को मिला भी दिया और ऐसी नाटक रच दिया तो उसका भी सब दोष दूर हो गया उसको भी सब कुछ प्राप्त हो गया इसको भी सब कुछ प्राप्त हो गया तो या तो ईश्वरीय संकल्प ही समझ लो इस चीज को चाहे उन लोगों के अपने अपने प्राप्त लेकिन ये सबके साथ होता है आपके साथ भी होता है बस वही गोरा कुमार वाली कहानी होते रहता है सर्वस्व होने के बाद में भी ईश्वर का संकल्प होता है हाँ हाँ और क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जिस शरीर ये बैठा हुआ है इस शरीर का वास्तविक निर्माता वास्तविक जो इसका जो सब संचालन कौन करेगा आप नहीं करेंगे ना आप तो ब्रह्म है आप थोड़ी इसका रचना कर रहे हैं इसी प्रारंभ अनुसार संचालन कौन करेगा इसलिए जो इस समय में इस ब्रह्मांड के ईश्वर पद को प्राप्त किया हुआ है ब्रह्मा पद को प्राप्त वही आएगा आप भले सर्वज्ञ हो जाएंगे ईश्वर भाव में स्थित हुए लेकिन आप यमराज्य भी हो सकते लेकिन आप स्वयं वो कार्य नहीं कर सकते जो वर्तमान पद में बैठा हुआ यमराज कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने अपने पूर्व जन्मकृत कर्म उपासना का फल स्वरूप प्राप्त पद है उनका ही वो कर्तव्य आप वो स्वरूप को प्राप्त भी कर जाएंगे तो भी आप कर्तव्य को निभा नहीं सकते क्योंकि आपका अधिकार और यदि उसी में स्थिति आप अपना लोगे अगले किसी कल्प में किसी मनवंतर में कभी न कभी आपको भी अमर पद मिल सकता है जाना में हम शेवरी कहा नहीं था यमराज जी ने जानते हुए मैंने जो है सारा काम कर दिया था अब उस नतीजा हम भुगत रहे हैं अपना कर्तव्य कर रहे हैं और फिर उसके बाद इस समय पूरा हो जाएगा हम मुक्त हो जाएंगे तो इसलिए जीवन मुक्त जो व्यक्ति है उसको प्रारंभ कर्म यदि उसे पूर्व में बन जाता है तो विशेष शरीर भी प्राप्त कर सकता है नहीं तो सीधा ही वो अपने ब्रह्म स्वरूप में रहते हुए ईश्वर भाव को प्राप्त भी कर सकता है नहीं भी कर सकता लेकिन ये फल उसको अवश्य प्राप्त होगा ही वो इसका अनुभव क्षण मात्र के लिए भी करे करेगा जरूर कि वो अपनी सर्वज्ञता और सर्वरूपता का अनुभव कर लेता है इसमें कोई संशय नहीं है तद एकत्व फलम तभी यदि ऐसा अनुभव नहीं करेगा ना फिर उसका तो निश्चय नहीं हो सकता फिर इस शरीर के अंदर जो अहंता ममता है वो टूटेगा आपके शरीर के अंदर जो आपके अंदर जो अहंता ममता बनी हुई है वो टूटेगी कैसे तभी ना जब आप ये जान लेंगे मैं ये शरीर ही नहीं हूं अरे भाई मैं सब शरीर मैं ही हूं अब किससे अहंता ममता करोगे है किससे अहंता ममता होगी विशेष से जब अब तक जो इस एक शरीर में अहंता ममता थी वो समाप्त होगी कि नहीं होगी उसके ही हुए बिना तो जीवन मुक्त कैसे होगा विचारणी है ना ये विचार करके देखो नहीं तो आपकी अहंता ममता टूटेगी जब देखो सर्वभवती सर्वज्ञ भवती नहीं होता तो टूट ही नहीं सकता जीवन मुक्त कैसे होगा हो? इसलिए इस अहंता ममता को टूटने के लिए अवश्य ही वो अनुभव करेगा कि सर्वो भगवती अहमेव अतएव सर्वज्ञो अपने हमेव ये जो क्षण जान लेगा वो सर्व अभिन्न अपने आप को देख लेगा तो अपने अहंता ममता उसकी एक शरीर के अंदर जो था एक उपाधि से वो खत्म हो जाएगी इसलिए कहा जा रहा है फल यह है सर्वज्ञ भगवती इसलिए तदेश श्लोक भी कहेंगे परमेव अक्षर वक्षमाण विशेषण प्रतिपदते उच्चते परमेव अक्षर वक्षमाण विशेषण वक्षमाण विशेषणों वाला उस परम अक्षर को ही यहाँ पर प्राप्त कर लेता है ये बात कही हुई है कौन सयो हई तत्सर्वेश्वरा निर्मुक्त वह यहाँ जो सकल ऐसाओं से निर्मुक्त जब तक साथ ही साथ संबंधी ऐसा बनी हुई रहेगी तब तक वह कभी इस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता वह क्या होगा अच्छायम मैंने तमो वर्जितम और शरीर नाम रूप सर्वोपाधि शरीर वर्जितम नाम रूप आत्मक जितनी भी उपाधि है तार्श उपाधि से वर्जित हो जाता है उपाध्यात्मक शरीर वर्जितम अलाहितम लोहिता सर्व गुण वर्जितम लोहितादि सर्व गुण से विवर्जित है लोहितादि से खून भी नहीं लिया उसको नाम रूप सर्व उपाधि में उसको स्थूल शरीर को भी ले रहे भाषिकार अलोहित ऐसे ले रहे लोहित शुक्ल कृष्ण क्या है सतरजता गुणात्मा वो भी हो सकता है अलोहित आदि सर्वगुण वर्जित यद एवं अतः शुभ्र शुद्ध सर्वविशेषण वर्जित जिसलिए ऐसा है इसलिए वह शुभ्र है शुद्ध है सर्वविशेषण रहित होने से अक्षर सत्यम पुरुष पुरुषाक्षर अक्षर तत्व ने वही सत्य तत्व है वही पुरुष तत्व अप्राणम अमनोगोचरम शिवम शांतम सायाभ्यंतरम अजम वेदे विचारादि जो ऐसे उस आत्मा को अप्राण अर्थात अमनोगोचरम प्राण से सकल इंद्रिया और मन से मन अंतकरण मैंने बाह्य इंद्रियों के द्वारा अगोचर और अंतकरण के द्वारा भी अगोचर अतएव क्यों अगोचर हुआ क्योंकि वह अपना कल्याण स्वरूप ही है इंद्रियों का जो विषय होता है वह अकल्याण रूप द्वैत ही होता है जो इंद्रियों का विषय है वो क्या है अकल्याण रूप है जो है ना पर कल्याण भागवत अशैव अशैवम है वह शैव है शिव भक्त ऐसा नहीं शिव मैंने कल्याण रूपम शिव एव शैवम मैंने कल्याण रूपम एवं न शिमित शैवम यहाँ पर शिवम शांतम सपायाभ्यंतम वह शिव है शिव है अर्ध कल्याण रूप है जिसलिए कल्याण रूप है वो परम शांति स्वरूप है सपायाभ्यंतरम अजम पायाभ्यंतर कार्यकार भाव से वास्तव में वो देखा जाए विचार करके विचार करते हैं तो वो अच ही है ऐसा यो वेदे देव जाना थी यस्तु त्यागी सौम्या स सर्वज्ञ न तेन अवीतम किंचित संभव जो इस प्रकार के सर्व का त्याग कर दिया किसी भी एक के साथ में उसके अपनी अहंता ममता को जोड़ा नहीं सर्व को त्याग दिया है यथोक्त वेद लिंगन तो न आलिंगित यदि सर्वत्यागी वैराग्य मात्र बाह्यार्थ त्याग संभव अपनी असहतादि अत्याग अव्यविचार सर्वतम टिप्पणकार वैराग्य मात्र बाह्यार्थ त्याग संभव है क्योंकि वैराग्य मात्र से आप बाह्यार्थ त्याग को कर सकते हो लेकिन सर्व त्याग करना तो ज्ञान के बिना नहीं हो सकता हाँ यह त्यज तत्यज हुए बिना स्वर्व प्रतिष्ठा नहीं हो सकता और जिस अंधकरण सबको त्याग रहा है उसी को त्यागना बड़ा कठिन काम होता है अहंकार को त्यागना अहंकार से सबको त्याग रहे हम बोलते हैं हमने घर को त्याग दिया हमने धन दौलत को त्याग दिया हमने ये छोड़ दिया हमने वो छोड़ दिया मैंने ये किया मैंने वो कर दिया ठीक है सबको छोड़ दिया लेकिन अहंकार को मैं नहीं छोड़ा क्यों मैं छोड़ने वाला अभी हूं ना मेरे कोई विरक्त है ऐसा कहते मेरा ऐसा कोई विरक्त नहीं है वो विरक्ति का भी अहंकार ही कठिन काम इसलिए इनका कहना है कि सर्वत्यागी कहने की क्या जरूरत है उस पर टिप्पण करने का तो इसलिए कहना पड़ा अहंतारी है ना बाह्यात्या समय भी अहंतारी अत्यागा अहंतारी का अत्याग हो जाता है उस विचार को निवारण करने के लिए अव्य विचारार्थ सर्वा के विशेषण देना जरूरी हो गया ही सौम्य सर्वज्ञ न तीन अवितम किंच सौम्य ऐसा जो होगा वह सर्वज्ञ होगा तेन अवितम किंचित न संभवती उसके द्वारा अविदित कुछ भी नहीं हो सकता अर्थ सब कुछ उसके लिए विदित है लेकिन यहाँ दो बात ध्यान रखना वह सर्वज्ञ है और सर्वविद है ये नहीं बोल रहे दो शब्द अलग अलग है ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपकी शंका का समाधान इसी में है सर्वज्ञ और सर्वविद में अंतर क्या क्यों जानता है अभी उसका उपयोग नहीं <laughs> नहीं सर्वम जानादि सामान्य रूपेण केंद्र रूपेण अहमेव सर्वो भवती सर्वम वेत्ति विशेष रूपेण गत्या गतिरादिर अपनी सर्वम ईश्वर भाव यह ये सर्वज्ञ हो रहा है अभी सर्वित्व नहीं हुआ है वृद्धायण परिषादियों में विशेष आयोग ना सर्वज्ञ काम सर्वकाम आत्मविद आत्मकाम आप्तकाम ये सब शब्दों के अंतर हमको वेगा पकड़ना पड़ेगा किस किस अवस्था के लिए क्या हो रहा है ये अभी जीवन मुक्ति को पूर्ण जीवन मुक्ति स्वरूप नहीं पहुंचा है अभी सर्वित नहीं हुआ है सर्वज्ञ हुआ है केवल सर्वज्ञ में क्या है सामान्य रूप से जान लिया भाई ये सब कुछ मैं ये हुआ हूँ ये अनुभव कर रहा है वो अतएव एक शरीर में विद्यमान जो अहंता ममता त्याग करके सर्व शरीर में विद्यमान अहंता ममता संबंधित हो जाता है बात ध्यान में खेचा इन्होंने यहाँ पर इसलिए कहते को कि पूर्व तेना अविदम न किंचित संबंध उसके अंदर अवित कुछ भी नहीं है अर्थात सब कुछ को जानता लेकिन सामान्य रूप में जान रहा है या विशेष रूप में जान रहा है इसे फर्क है यहां सामान्य रूप में जान रहा है ये ग्रहण करना है पूर्व अविद्या असर्वज्ञ आसित पहले है अविद्या के से क्या था वो असर्वज्ञ था और तो की था और यही जानता था कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर में से अवच्छिन्न जो मैं हूँ वही सत्य और ऐसे मेरे से अलग है ऐसे वो जानता सर्व मैं हूं ये नहीं जानता था तो मैं अथर्व हूं ऐसे जानता सर्वम न जाने जैसे नहीं करा असर्वम एवं अहम इति जाना असर्वम एवं अहम इति जाना सो तो असर्व किया न सर्व यदि असर्व के नहीं करना न सर्व इति असर्व असर्व जाना असर्व सर्वम एवं अहम इति हो जानते स सर्वज्ञ असर्वम अहम इति हो जाना थे साथ हाँ कोई सामान्य रूप में नहीं कहा वो ज्ञान शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं सर्वित शब्द अर्थ नहीं है यहाँ पर लेकिन भले ज्ञान जानाती बताने के लिए अभी धातु प्रयोग कर दिया गया लेकिन वो दोनों शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ आपका स्पष्ट हो जाएगा जहाँ सर्वज्ञ भी है सर्वित भी है तब क्या करोगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाए तो उन जगहों में आप देखिए भाषियों को स्पष्ट हो जाएगा पूर्व विद्या सर्वज्ञ आसित पुनर्विद्या अविद्या परे सर्वो भवती देखो सर्वो भवती तस्मिन अर्थे एश श्लोक मंत्र भवती इसी अर्थ को प्रकाशित करने वाला यह भी मंत्र प्राप्त है उक्तार्थ संग्रह का उक्त अर्थ को ही संग्रह करने वाला है देखो को हेतु तो सर्वज्ञ असौ देखो सर्वश्च असौ ज्ञश्चिति सर्वात्मा भेद सर्वज्ञ अतः सर्वात्माओं के साथ अभेद करता हुआ सर्वज्ञ भी हो सकता है ये सब कुछ वही हो गया है इसलिए वो सर्वज्ञ तो टिप्पण का स्पष्ट कर रहे हैं क्या कारण है ऐसा कहने में वहां पर कहते तेन अवितम न किंच समोह देवा कर्मणी प्रयोग कर दिया लेकिन वो कर्मणी होने के बावजूद भी देखने में ताप प्रत्यय और भाव परक लेना का भाव कर्म दोनों में होता है भाव परक में और अभी इसे कर्म नहीं लेंगे तो सर्वम हो जाएगा इस सर्वम नहीं सर्वस्व ज्ञश्च अपने आप कर्म तो, तो खत्म हो गया तो विशेष भाव से जानना अर्थ निकलेगा नहीं जब सर्वम जाना थी मैंने इस चीज को सम्यक जान लिया पूर्ण रूप में जानने का मतलब क्या होता है उस उसको विशेष रूप से नहीं जाना वह कर्मणी में होगा और सर्व जाना में ऐसा नहीं होगा इसलिए सर्व को कर्तरी में रख दिया सर्व स्वरूप स्वयं जाना वह ऐसे विग्रह क्या होगा सर्वस्चासौ होगा तो वित्पत्ति में अंतर कर दिया टिप्पण करने और स्पष्ट कर दिया क्योंकि इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आगे नहीं तो फिर हृदयकारी में पढ़ जब पढ़ोगे दोनों शब्द एक साथ जहाँ आएंगे वहाँ कहेंगे पहले तो ऐसा बोला था अब यहाँ ऐसा कैसे हो गया ये टिप्पण कार पौरवा पर को ध्यान रख करके यहाँ स्पष्ट कर दिया है सर्वस्व सौ ले लो या सर्वात्ता भेदे न जाना दी थी सर्व सर्वज्ञ ऐसे उत्पत्ति कर लेना चाहिए ऐसे करने से वह विशेष रूप ज्ञान वस्तु का खत्म हो गया अर्थ तो मंत्र आता विज्ञान आता सहदेव सर्व प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदेते सौम्य सर्वज्ञ सर्वे सर्वमेव हे सौम्य जिस अक्षर में ये सारे के सारे हैं देवैश्च सर्व प्राणा भूतानी यतिष्ठी सविज्ञाना सहदेव सर्व सहदेव सर्व कहते हैं कि अग्नि आदि देवताओं के सहित किसी अक्षर में ही विज्ञान आत्मा जो प्राण है विज्ञान आत्मा प्राण भूत सब गिना दिया ना इन्होंने विज्ञानात्मा वो सह तो उसे देवश्च सर्वैसा विज्ञानात्मा हो गया अलग से प्राण भूतानी च यत्र थी जिसमें जो है संप्रतिष्ठित होते हैं उसे जो जानता है तत् अक्षरम यह वेद हृदय सौम्या स सर्वज्ञ पुरुष हो जाएगा और सर्वमेव आविवेश और सभी में प्रविष्ट हो गया तो सर्वाभेद हो गया ना उसी को देखकर टिप्पण करना सर्वाभेद देना ये भी अर्थ किया था सब में प्रवेश हो गया अर्थ क्या है पट सभी चित्र में प्रवेश हो गया पट जो है कपड़ा क्या हुआ सभी चित्रों में प्रवेश हो गया ऐसा यदि कोई कहता है उसका अर्थ क्या हुआ अब हम्म? पटी तो थे वो चित्र क्या अलग थे वो वह चित्र जितने भी हैं वो पट से अलग है ही नहीं फिर पटकों से प्रवेश क्या होगा पट से कैसे प्रवेश करेगा प्रवेश का तात्पर्य यहाँ पर व्याप्ति मात्र पहले क्या था वो प्रत्येक चित्र अपने आप में अहम कर रहे थे भेद था द्वैत था ये चित्र ये चित्र अलग अलग कर रहे थे अब उस चित्र को मान लीजिए ज्ञान हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है पट है तो वह चित्र अपने पट रूपेण समय प्रवेश कर गया का मतलब वह निर्णय ले लिया कि भाई मैं ही सब रूप को धारण किया ये इस प्रकार का अनुभव करना ही प्रवेश है उसके कोई आगे आएगा इसलिए तो सृष्टवा देवान प्रवेश में बड़ा शास्त्रार्थ करेंगे तैत्र परिषद जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है वैसे शेख बना बिल में घुस गया यह छेद बना के ऐसा मानना है कि क्या है इस पर विचार शास्त्रार्थ वहां करेंगे वहीं पर उसमें विस्तृत विचार देखेंगे तो भगवान की है और है एक ही है तो अलग है क्या इतना बड़े सर्वभवती कह दिया फिर भी बोल रहे हो किसी शंका पूछते हो भगवान जैसे कौन सी वस्तु जानते भूतकाल सब आप भी जान लोगे आप बनो ना पहले वो फिर पता चल जाएगा अब उस स्थिति में पहुंच जाओ दो अलग होता है क्या संसार में आप ही ईश्वर हो गए हैं अलग है ही नहीं सर्वभौति का मतलब क्या है सर्व के अंदर भगवान अलग हो क्या सर्व से बाहर है अरे वो तो उपाधियां है उपाधि से परे हो गया ना ये तो करे शरीर के अंत मंत्र छोड़ दिया तुमने दो रहा कहा रह गया दो रह गया अगर वो बात वही तो द्वैती आ जाता है खोपड़ी में अद्वैत में पहुंच गया अभेद बोल दिया सर्वाभेद कितने बार बोल चुके हैं सर्व के साथ अभेद हो गया वही सर्व हो गया फिर दो कहां से आ गए दो भगवान कहां से अरे उपाधि में आए करो तो फिर सर्व कहा हुआ वो सर्वम अवेश विज्ञान सदैव अग्नि प्राणाश्चक्षुरादि भूतानी पृथ्वी विज्ञान आत्मा ये जो विज्ञान जीव भाव था वो भी प्रवेश कर गया और अलकार रह गया अभी किसके साथ हो भी देवैश्य जो इन इंद्रियादियों के अभिमानी देवता अग्नि आदि थे प्राणाश चक्षुरादय भूतानी पृथ्वी आदि जो गिनाया था पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च जितने गिनाए तो सारी की सारी चीजें समृशंति अक्षर यस्मिन्क्षर तत्व जिस अक्षर तत्व में से प्रवेश कर जाते हैं तद अक्षर यो वेदयते उस अक्षर तत्व का जो अनुभव कर लेता है स सौम्य प्रिय दर्शन हे प्रिय दर्शन स सर्वज्ञ सर्वमेव आवेश आवेश वह सभी में वह प्रवेश कर गया अर्थात व्याप्ति को प्राप्त कर गया सर्वाभेद स्वरूप को प्राप्त कर गया अतएव सर्व जानाति यह सर्वश्च असौ अहमेव यह जानाति यह सर्वाभेदे न जानाती थी इस प्रकार से चतुर्थ प्रश्न का विचार पूरा हो गया अब पंचम प्रश्न में शैव भी पूछते हैं तो चतुर्थ प्रश्न के द्वारा उत्तम अधिकारी के लिए तत्पदार्थ शोधन पूर्वक साक्षात बोध करा दी पदार्थ को सीधे ही ले लिया ना उसमें तो कि सुषुप्त में साक्षात ब्रह्म ही आप लीन हो रहे हैं ये कह दिए और उसके माध्यम से वह आत्मा का स्वरूप वर्णन किया स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश स्वरूप है और वही सर्व है ऐसा अनुभव कर लेता है वहां पर तो सुषुप्ति के आधार पर वास्तविक समाज स्वरूप का वर्णन करता हुआ शुद्ध पुरुष का व्याख्यान कर दिए वैसे तत्पदार्थ का कथन के द्वारा तत्पदार्थ अनुभूति कराना यह सर्वोत्तम अधिकारी का मामला है ये समझना भी कठिन हो जाता है इसलिए अब आते हैं चला ये तो सभी का बस की बात है नहीं अब अनधिकारी जो इसका मंद वैराग्य सर्वोत्यागी नहीं केवल वायु पदार्थ को कुछ त्याग रखा है तो नहीं है किंचित त्यागी है सामान्य वैराग्य वाला है जो उसके लिए मंदाधिकारी के लिए मंद वैराग्य होता ओम इतम ध्यात आत्मा धनुर इत्यादि मंत्र सूचित ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्ति अर्थम ओंकारोपासन वक्त प्रश्न आरभ दे इसलिए आप मंदाधिकारी के लिए जो मंद वैराग्य संपन्न व्यक्ति है उसके लिए ओम रूपी उपासना का वर्णन करेंगे जिसके माध्यम से व्यक्ति पर ब्रह्म लोक में जाएगा वहां जाकर अक्षर तत्व का अनुभव करेगा क्रम मुक्ति का वर्णन करेंगे पहले सद्य मुक्ति का साधन बताया साक्षात तत्वानुभूति और यहाँ पर अब क्रम मुक्ति का साधन हो उनको बताने का इसके लिए प्रथम पंचम प्रश्न आरंभ होता है स यो वही तत् भगवान मनुष्य प्रायणातम ओंकारम कथम वावस्व तेन लोकन जयती तस्मय सहोवाच तदन प्रहलाद मुनि से शिवी का पुत्र सत्यगाम नाम से सुप्रसिद्ध रहे पूछा हे भगवान मनुष्यों में जो कोई विरला पुरुष जो मरण पर्यंत ओंकार विध्यायी ओंकार का समय प्रकार से निरंतर अभी है ना व्याप्ति अभिध्यायी था अभी करे आमरण हाँ, पर्यंत ध्यान किया कोई कोई गर्भ आता है सभी तो साधन बदलते रहते हैं ना बोर हो जाते आज की भाषा में क्या बोर हो गए अपने ही साधना से बोर हो जाते है कितने से करते करते थक गया छोड़ो इसको दूसरा मंत्र ले लेते हैं भाई थोड़ा दो चार साल वो करेगा पहले ये भी करते बोर हो गया और मंत्र में जाए कभी गायत्री कभी मृत्युंजय कभी ओम नमस्या कभी ओम नारायण कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लिए चल रहा है काम आज हो गया ना एक टाइम का तो भोजन किस खिला तो कौन खा रहे रोज खिचड़ी अरे भाई क्या रोज खिचड़ी बना रहे है? मन उब जाता है नहीं टेस्ट अलग अलग चाहिए जैसे जबा रहे वैसे तो मन को भी मंत्र अलग अलग चाहिए तो इसलिए इनका कहना है कि देखो कि कोई कोई होता है इसे विशेषण क्या रहेंगे ओम इतव अध्यायित आत्मान कहते हैं कि कैसा हुआ व्यक्ति है तो वो मरण पर्यंत ध्यान कर रहा है ओम को आत्मान भाव सत्यावलोकन दी तेना ऐसा उस चिंतक के द्वारा वह किस लोक को जीतता है ऐसा प्रश्न पूछा तस्वीर सो होगा अच्छा उसके लिए अब वह अर्थात शिवी मन सत्य काम के लिए वह पिपलाद महर्षि उत्तर जवाब देते हैं शिकार अथ इधारी परापर ब्रह्मे अथ हैनम शैव्य सतकाम अपप्रच्छा अथ इधानी परापर ब्रह्म प्राप्ति साधन ओंकार से उपासना विधित से आप प्रश्न आरभ्य दे पर जो चौसौ मिलेगा चीज साधन एक मिलेगा दो चीज साधन एक होने के बावजूद भी इसका तरह साध्य दो तो है ये विलक्षणता है आप हमेशा ये देखते हैं साध्य एक हुआ करता है साधन अनेक होते हैं ये आपने दुनिया में देखा है साध्य एक है लेकिन साधन अनेक हुआ करता है स्वर्ग एक अनेकों प्रकार के याद स्वर्ग पाने के लिए यहाँ लोग में भी देखो बद्रीनाथ जाना है साधन अनेक है आपके पास टू सीटर में जाओ थ्री सीटर में जाओ खटखट वाले में ऑर्डनरी बस में जाओ पैदल जाओ अपने स्कूटर ले जाओ या अपना कार ले जाओ अनेकों साधन है और लेकिन ये विलक्षणता तो यहाँ आप देख रहे हैं साधन एक है तो साध दो हो रहे हैं ओम प्रभु साध एक है साधन एक है लेकिन साध क्या है पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म कैसे उसी पर विचार प्रकट करने के लिए आरंभ हो रहा है पर ब्रह्म प्राप्ति साधना ओंकार की उपासना विविधित से ओंकार की उपासना को विधान करने की इच्छा से यह पंचम प्रश्न आरंभ होता है प्रश्न के बारे विचार चल रहा था स्वयं कच्चित वही भगवान मनुष्य से मनुष्य मध्य तट अद्भुतम इव प्राणांतम मरणांतम यावत मित्य ओंकार विद्या आभिमुख्य चिंत यह कहा गया था इस समय आप स्पष्ट के द्वारा परापर ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताओ ओंकार की उपासना का विधान करने की इच्छा से यह प्रश्न को आरंभ किया जा रहा है स यह कश्चित वह जो कोई भी व्यक्ति भगवान हे पूज्य आचार्य मनुष्यों में मनुष्य यद्यपि वहां सुत भी है अर्थ नाम मध्य यह कश्चित मनुष्यों के बीच में जो कोई भी व्यक्ति तद अद्भुतम युव प्रायणांतम मरणांतम क्योंकि यद्यपि अद्भुत आश्चर्य के समान होगा ये बात कि ये मरण पर्यंत कोई भी एक उपासना करने वाले मिलते ही नहीं है बदलते रहने वाले ज्यादा है और ये ऐसा विलक्षण मनुष्य है जो कि मरण पर्यंत करने वाला है कद इसलिए अद्भुतम ही किम प्रायणांत मरणांत यावत जीवन इतने ओंकार विद्यायित यावत जीवन पर्यंत मरण पर्यंत ओंकार का ही ध्यान करता है आभिमुख्य न चिंतित ओंकाराभिमुख स्वरूपाभिमुख होता हुआ ओम का चिंतन करने वाला कहते हैं देखो अभी के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं बहुत सुंदर करके स्वयं बता रहे भाष्यकार बाह्य विषय उपसंहृत करना अभी ध्यायित क्यों बोला क्यों ध्यायित क्यों नहीं बोल रहे हो अभी उसे क्यों जोड़ा है कहने का मतलब धारणा और उसे भी पहले प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा के साथ ध्यान सीधा बैठ गया ध्यान करने वो कुछ नहीं कर सकता कह रहे इसलिए देखो भाई विषय भी उपसर्ग कर रहा ये हो गया प्रत्याहार समाहित चित्त धारणा भक्ति आवेशित ब्रह्म भाव भक्ति से आवेशित ब्रह्म भाव होने चाहिए जिसको सत्कार आशीर्वित दृढ़ भूमि कहा गया था सत्कार से पूर्ण भक्ति के साथ अपने साधना और अपना जो साधन के प्रति पूर्ण भक्ति होनी चाहिए उस भक्ति से आवेशित है ब्रह्म भाव जो तारस ब्रह्म भाव सन ओंकारे ध्यान कुरियात ऐसे अन्वय होगा ध्यायी आत्मृत्य संतान अविच्छेद कदल का वह ओम को भी क्या स्व आत्म स्वरूप भूता ही है वो तस्वाचक प्रणव इसलिए कहा वो आत्मा का ही नाम है जैसा कोई नाम आपके सामने कह दिया जाए आपके मस्तिष्क में नाम ही दिखाई देता है इस वजह सेव है तो दिमाग में खट से सेव दिखाई देने लगता है भले सामने चीज हो या ना हो या नहीं रसगुल्ला कह दिया जाए झटी थी मुंह में भी पानी आ जाता है क्यों दिखाई नहीं देता मुंह में भी पानी आने लग जाता है खाने पीने की चीज के मामले में जो आपका प्रिय वस्तु का नाम लिया जाए तो कहना ही क्या है इसी प्रकार ये तो आपका स्वरूप है अत्यंत प्रिय प्रियतम वस्तु है है ना प्रियो अन्य सर्वस्मादित आत्मा कर प्रधान परिषद में कहा है ये जो आत्मा है जितने भी संसार है प्रिय श्रेय सब से परे निर्विषय प्रेमास्पद विषय है ये इसलिए भक्ति का लक्षण करते हुए नारद जी ने कहा निरुचित प्रेमास्पदा भक्ति फिर ये आत्मा या भक्ति भक्ति आवेशित भविष्कार ने भी कहा भक्ति से आवेशित होनी चाहिए अगर हमारे अपने निज स्वरूप जो है अत्यंत प्रियतम है जिसे बाह्य प्रिय वस्तुओं का स्मरण करने मात्र से ही वस्तु का चिंतन हो जाता है तो यहाँ पर भी हमारा प्रियतम वस्तु होने के नाते उसका नाम ओम का उच्चारण करते बराबर उस वस्तु के स्वरूप की ओर हम निरंतर ध्यान होना ही चाहिए इसी को कहा इन्होंने आत्म प्रत्यय संधान स्वरूपाकार जो वृत्ति उसको बोले आत्म प्रत्यय स्वरूप आकार जो वृत्ति है उस वृत्ति का क्या है संतान प्रत्येक दानता ध्यानम एक दानता होनी चाहिए एक धारावत चलनी चाहिए धारा भी कैसे तैल धारावत गंगा धारावत नहीं अविच्छिन्न धारा होनी चाहिए गंगा की धारा कैसी है लहर उपा है विच्छिन्न है शांत एक धारा होनी चाहिए विदेश में एक व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ हिरोशी मोतोयामा जापानी व्यक्ति है बहुत बड़ा योगी है साधारण नहीं शायद ऐसा मिलना भी मुश्किल है बचपन से ही अच्छे अच्छे सिद्ध स्थानों में रहा जो जापान और चाइना के सिद्ध पीठ स्थल हैं ऐसी गुफाओं में जाकर भी रहा सहयोग मिलता रहा बहुत अच्छा उसका अनुभव है और उसने वैज्ञानिक भी विज्ञान भी पढ़ता रहा सर उसने मशीन बनाए इस तरह के जो आपकी वृत्तियों को तरंग रूप में देख सकता है हमारा मशीन से वो सारे magneto radio radioactivity machine जो होते हैं वो बनाया और आप बिठाइएंगे और उसमें मशीन बाहर से लगता है छुएगा भी नहीं आपको छूता भी नहीं ऐसे बनाया आप बैठे हैं इधर से एक बक्सा आएगा इधर से ऊपर से गया नीचे से चौकी का नीचे से चारों ओर से एक बक्सा टेप बना हुआ है और उसे तारे लगी हुई है बाहर दूसरे कमरे में चला जाएगा आप बैठे हैं वहां पर उसको सब पता लगता है आप क्या चिंतन कर रहे हैं मशीनों में सब दिखाई देता है जो अपने आप को बड़े बड़े योगी मानने वाले हैं उन सबके पास जाता था वो हाथ जोड़ता था कि आप हमारा देश पधारिए आने जाने के सारे खर्चा दूंगा मैं योग पर बड़ा अनुसंधान कर रहा हूँ आप कृपा करें ले जाता था टेस्ट करता था और अपने गणित कर रखा है एक आम आदमी एक आम आदमी जब शांत रहता है प्रसन्न रहता है उस समय को उसने जीरो पे रखा उसका अपने मीटर में गणित जो किया जो शांत और बिल्कुल प्रसन्न चित्त उस व्यक्ति के मानस स्थिति को जीरो से रीडिंग से शुरू किया वो तो जीरो हो गया मापदंड के लिए तो उससे ज्यादा तो योगी को होना ही चाहिए ध्यान काल में और श्रेष्ठ होना चाहिए योगी का व्यवहार काल में उस आम आदमी के प्रसन्न और शांत चित्त की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ होना ही चाहिए और योगी जब ध्यान करेगा तब तो और भी उत्कृष्ट होना चाहिए और ये समाधि लग जाए तो सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए और समाधि में निर्विकल्प लग जाए फिर तो मीटर से फेल हो जाना चाहिए ये उसके अपना एक विचार उसने बनाया और बहुत लोगों को ले गया परीक्षण करते रहता था स्वयं की उनकी स्वयं की उनकी करते करते करते उसने मशीन में भी बहुत सारे अंतर करते गया और बढ़िया से बढ़िया बनाया और उसने एक चीज देखा कि जितने अपने आप को योगी मानते हैं जो आसन करने में माहिर है हजार हजार आसन करने में सक्षम है और लचीला ऐसा शरीर एकदम मोड़ दो गोल बना लो आटे का गोला बना दी ऐसे ऐसे को भी ले गया और सबका मापदंड जीरो से एक के अंदर ही था एक को कोई क्रॉस नहीं है फिर वो जैसे ही योगियों के संपर्क करते जो प्राणायाम आदि खूब अभ्यास करते हैं उनको ले गया उनका ढाई से अंदर ही था उससे आगे ऊपर बढ़ा ही नहीं हुई तो एक पायलट बाबा हुए विष्णुदेवानगिर जी विजय सरस्वती जी महाराज उनको ले गया रजनीश को भी ले गया महेश योगी भी गए हैं उसके पास सब बड़े बड़े लोग गए और अधिक से अधिक सबका छह तक मापदंड गया और इसलिए खुद के साथ सवा सात तो चलता था बड़ा दुखी हो गया वो इस बात में कि मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा मैं तो वो चाहता हूं जो मेरे से ज्यादा ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ और खोजते खोजते उसने ये भी सुन लिया एक कोई सत्यानंद नाम के हैं बिहार विद्यालय के मुंगेर में रहते हैं बिहार में तो उसने वहां भी आया वैसे ऐसे तो जाने वाले है नहीं हो बड़ा मुश्किल उनका काम तीन महीना रहा यहाँ उन्नीस सौ बयासी में जब हम वहां आते उस समय तभी हमको ज्यादा जानकारी हुई उससे सब वार्तालाप होता था फिर अंत में गुरु जी ने स्वीकार कर लिया चलो कोई नहीं चलते हैं तो शरत रखा उनको कि जो रिजल्ट आएगा यदि तुमसे उत्कृष्ट है तो तुम किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे तुमसे कम आता है तो सबको प्रचार कर देना ताकि मेरी खूब बदनामी हो जाएगी उससे अधिक अच्छा आ जाए तो बताना नहीं ऐसे में तो भेड़ बकरियों की भीड़ लग जाएगी यहाँ तुम्हारा पूरा चा नहीं आ जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा तो ठीक है हम कहीं प्रचार नहीं करेंगे अब चलो गए गए तो मीटर जैसे वो प्रत्याहार का अभ्यास करने लगे प्राणायाम किया उन्होंने पहले वस्त्र का वर्ग करके कपाल बात किया और एकदम प्रत्याहार करना चालू किया और अंतर मौन स्थिति में जैसे होते होते होते वो धारणा में पहुंचे पंच तत्व धारणा करके जब ऊपर उठने लगे वो एकदम लव के ऊपर मीटर चला गया उसके बाद दस तक ही है वो जीरो से दस तक की नाप थी और उसके बाद वो खत्म हो गई मीटर ध्यान होते होते खत्म हो गया मीटर सब तब ऑटोमेशन सारे ऑफ हो गए वो घबरा गई क्या हो रहा फिर उसने सोचा ठीक है आधे मीटर का और हम बढ़ाते दूसरे ढंग का बनाएंगे जिसे पचास तक अंक हम गणित कर सके तो गुरु जी फिर तो छह घंटे तक समाधि में थे जब बाहर आए उसके बाद में जो है संकल्प उन्होंने छह घंटे का करा था उस छह घंटे के बाद निकल आए निकल आने के बाद पूछे उससे कहते सारे मीटर हमारे तो फेल हो गए आधे घंटे बाद ही खत्म हो गए सब इस हम अगले बार फिर मीटर बनाएंगे और उसमें जो है चीजें से जोड़ेंगे जिससे कि और सूक्ष्म चीज को ग्रहण कर सके अति सूक्ष्म जितना हो सकता है तो छह महीना अनुसंधान करके और मीटर बनाए अभी उसने पुस्तक छपाया है मेरे पास भेजा है उसने ब्रिज टू दायर कॉन्शियसनेस तो उसमें अपने गुरु जी का भी नाम लिख दिया उसने गुरु जी के बारे में सब लिख दिया छाप दिया है अनुमति दे दी होंगे गुरु जी आप छापो कोई बात हम तो जाने वाले हैं इसे छाप दो कोई नहीं तो वो छह महीने का फिर दिया गया गुरु जी को तब अड़तालीस अंक तक चला गया जब वो पूर्ण वो भी सविकल्प समाधि की असंप्रज्ञात अवस्था को पहुंच चुके थे उसके बाद मीटर फैले खत्म हो गई मैंने एकदम वो वृत्ति समाप्त कर दिया ना वहां वृत्ति चला ही रखे थे जहाँ वृत्ति भी शांत हो गई स्वरूपाकार हो गई पूर्ण रूप है निर्विकल समाधि में मेटल गिरना बंद कर दिया तब तो उसने कहा कि भाई ये महान योगी है तो फिर उनके पैर पकड़ लिया गया कि आप हमारे गुरु है हमको सन्यास दे दो जो करना है कर दो लेकिन आप जो है हमें और भटकने की जरूरत नहीं तो ऐसे स्थिति होती है जब ये आत्म प्रत्यय संतान का अविच्छेद हो जाए उस पर बोल रहा है ऐसे योगी और भी कितने होंगे तो प्रचलित नहीं है प्रचलित नहीं है क्योंकि वो समाज के अंदर व्यवहार में नहीं ये नहीं वो एक ही है जब व्यवहार में रहने वाले में से एक उनको मिल गया और भी होंगे व्यवहार में जो उसके संपर्क में नहीं आए वो भी पता नहीं ये हम नहीं कह सकते वही एक है और भी होंगे जो इस व्यवहार में रहते हुए उस व्यक्ति का संपर्क में नहीं आए और जांच पड़ताल में फंसे नहीं और कुछ बहुत सारे ऐसे योगी होंगे जो व्यवहार में ही नहीं घूम रहे होंगे भंडारा खाते हुए पता ही नहीं महान ज्ञानी योगी होंगे न जैसे भागवत मार्दन आपका जो विदुर कैसे घूम रहा था अपने स्वजन भी पहचान ना पाए अवधूत वेश धारण करके घूम रहा था ऐसे ही पागल जैसे खाते पीते घूम रहे होंगे कितने ऐसे ज्ञानी योगी हैं क्या पता तो इस तरह से संसार इसलिए चल रहा है ऐसे लोगों के कारण से ही संसार चल रहा है उस स्थिति को यहाँ पर अभी उपसर्ग के द्वारा संस्थापन कर रहे हैं कि भाई देखो प्रत्य संतान अविच्छेद भिन्न जातीय प्रत्यांतर अखिलीकृत और स्पष्ट करने के लिए भिन्न जातीय जो वृत्ति अंतर है मैंने गड़बड़ाई वृत्ति अंतर हो चाहे अन्य किसी भी प्रकार की वृत्ति अंतरों के द्वारा खिली भाव को प्राप्त नहीं हुआ है अखिली कृपा मैंने धारा एक सा इसे तरंग नहीं इसे मैंने कहा गंगावत नहीं समझ रहा गंगावती तो तरंग आएगा मीटर में ही होता है वहां उसकी मीटर भी ऐसे ऐसे उसका फर्स्ट फोटो दिया है उसने पुस्तक में स्थिति आती जब एक लाइन सा हो जाता है का तो ध्यान करने लग जाए तो एक लाइन हो जाता है तरंग खत्म जब तक तरंग में है तो समझो अभी ध्यान हुआ ही नहीं उसको अन्य भाषाओं में आलपारेस बिटारेस बिटा करके भी मनोवैज्ञानिक लोगों ने गणना किया है साइकोलॉजिस्ट करते हैं इस बात को तो लेकिन ये सारी चीजें कहते कैसा होनी चाहिए भिन्न जातीय जो प्रत्यय है तारस प्रत्यांतरों के द्वारा अखिलीकृत होनी चाहिए खिलीकृत नहीं होनी चाहिए लहर भाव बिल्कुल नहीं वही गीता का मैं प्रयोग किया दृष्टांत का भाषकर ला रहे हैं निर्वाद दिव शिखा समो निर्वाद वायु रहित अर्थात